पिछली चर्चाओं के संबंध में बहुत से प्रश्न मेरे पास आए हैं सभी प्रश्न बहुत अर्थपूर्ण बहुत महत्व के हैं कुछ थोड़े से प्रश्नों पर अभी और कुछ पर रात में विचार करेंगे प्रश्न चूंकि बहुत हैं मैं बहुत थोड़े संक्षेप में एक एक का उत्तर देने की कोशिश करूंगा सबसे पहले एक मित्र ने पूछा है और वैसी बात करीब करीब पूरे मुल्क में जगह जगह पूछी जाती है आप सबके मन में भी वो प्रश्न उठता होगा उन्होंने पूछा है आजकल की दुनिया खराब हो गई है अभी ये जो गीत गाया उसमें भी ये बात है कि आजकल की दुनिया खराब हो गई है इस खराब दुनिया को ठीक रास्ते पर कैसे लाया जाए इस प्रश्न में दो बातें समझ लेनी जरूरी हैं एक तो ये कहना कि आजकल की दुनिया खराब हो गई है इस बुनियादी भ्रम पर खड़ा हुआ है कि पहले की दुनिया अच्छी थी ये बात इतनी बुनियादी रूप से गलत है जिसका कोई हिसाब नहीं पहली की दुनिया भी आज से अच्छी नहीं थी आज का आदमी खराब हो गया है इससे ऐसा ख्याल पैदा होता है कि पहले का आदमी बहुत अच्छा था शायद आपको पता नहीं कि इस तरह के ख्याल के पैदा हो जाने का कारण क्या है जमीन पर जो पुरानी से पुरानी किताबें उपलब्ध हैं सबसे पुरानी किताब चीन में उपलब्ध है जो कोई 6000 वर्ष पुरानी है उस पुरानी किताब में भी ये लिखा हुआ है कि आज की दुनिया खराब हो गई है पहले के लोग बहुत अच्छे थे ये पहले के लोग कब थे आज तक एक भी ऐसी किताब नहीं मिली है जिसने ये कहा हो अभी के लोग अच्छे हैं जो लोग मौजूद हैं ये अच्छे हैं अब तक मनुष्य जाति के पास ऐसा एक भी उल्लेख नहीं जो ये कहता हो अभी के लोग अच्छे पहले के लोग अच्छे थे ये पहले के लोग कब थे बुद्ध और महावीर ये कहते हैं कि जमाना खराब हो गया लोग बुरे हैं पहले के लोग अच्छे थे क्राइस्ट ये कहते हैं कि लोग बुरे हैं पहले के लोग अच्छे थे ये पहले के लोग कब थे और अगर अच्छे लोग जमीन पर थे तो अच्छे लोगों से बुरे लोग पैदा कैसे हो गए वो अच्छी संस्कृति से बुरी संस्कृति पैदा कैसे हो गई उस अच्छे से विकार कैसे पैदा हो गए नहीं सच्चाई कुछ और है सच्चाई बिल्कुल उल्टी है अगर पहले के लोग अच्छे थे तो युद्ध कौन करता था हिंसा कौन करता था पुरानी सी पुरानी युद्ध की कथा हमारी महाभारत की है वे लोग अच्छे लोग थे अपनी पत्नियों को दांव पर लगाने वाले लोग अच्छे थे आज एक साधारण आदमी भी अपनी पत्नी को दांव पर लगाने में दो दफा विचार करेगा सोचेगा ये उचित है लेकिन उस समय जिसको हम कहें कि जो धर्म का बहुत विचारशील आदमी था वो भी विचार नहीं कर रहा पत्नी को दवा पे लगाते वक्त जुआ खेलने में कोई संकोच नहीं हो रहा है उसे अपने ही भाई की पत्नियों को नंगा करने में किसी को कोई संकोच नहीं हो रहा है बीच सभा में और वहां जो लोग बैठे हैं वे बड़े विचारशील हैं धर्म के ज्ञाता हैं वे भी बैठे देख रहे हैं ये लोग अच्छे थे तो फिर महाभारत क्यों हो गया इतना संघर्ष इतना रक्तपात क्यों हो गया अच्छे लोग थे तो अच्छे लोग एक मिथ एक कल्पना और कहानी नहीं तो बुद्ध ने किन लोगों को समझाया कि चोरी मत करो महावीर ने किन को समझाया कि हिंसा मत करो अगर लोग अहिंसक थे तो महावीर पागल थे ढाई हजार साल पहले किसको समझा रहे थे कि चोरी मत करो हिंसा मत करो दूसरे की स्त्री पे बुरी नजर मत रखो लोग रखते होंगे तभी तो समझा रहे थे नहीं तो समझाएंगे कैसे ये ब्रह्मचरी का उपदेश किसको दे रहे थे अगर सारे लोग ब्रह्मचरी को मानते थे तो ब्रह्मचरी का उपदेश किसके लिए था और अगर सारे लोग ईमानदार थे तो ईमानदारी की शिक्षाएं हमारे ग्रंथों में क्यों लिखी हुई हैं किसके लिए लिखी हुई लोग बेईमान रहे होंगे तब तो ईमानदारी की शिक्षा की बात लिखी है ग्रंथों में नहीं तो कौन लिखता जरूरत रही होगी जिंदगी को कि ईमानदारी कोई सिखाए लोग बेईमान रहे होंगे लोग हत्यारे रहे होंगे लोग चोर रहे होंगे तब तो अचोरी समझाया जा रहा है अहिंसा समझाई जा रही है और लोग एक दूसरे को घृणा करते रहे होंगे तब तो प्रेम के इतने उपदेश दिए गए नहीं तो किसको दिए जाते हैं लेकिन भ्रम कुछ और बातों से पैदा हो जाता है हर युग में अच्छे लोग होते हैं उन थोड़े से अच्छे लोगों की कथा बच रहती है बाकी लोगों के जीवन का कोई हिसाब नहीं बचता हमारे युग में गांधी थे 2000 साल बाद हम जो लोग बैठे हैं हमारी कोई कथा बच रहेगी लेकिन गांधी की बच रहेगी और 2000 साल बाद लोग गांधी को कहेंगे इतना अच्छा आदमी था उस युग के लोग कितने अच्छे रहे होंगे गांधी से वो सारे युग को तोल लेंगे जो कि बिल्कुल झूठी तौल होगी गांधी अपवाद था नियम नहीं था और 2000 साल बाद जब हम सबकी कोई कथा शेष नहीं रह जाएगी और गांधी की कथा शेष होगी तो गांधी के आधार पर हम सब के बाबत जो निर्णय लिया जाएगा वो बिल्कुल झूठा होगा हम तो गांधी के हत्यारे हैं लेकिन 2000 साल बाद लोग कहेंगे गांधी इतना अच्छा आदमी था उसके समाज के लोग कितने अच्छे नहीं रहे होंगे तो राम और कृष्ण बुद्ध और महावीर दो चार नामों के आधार पर हम उस जमाने के लोगों के बाबत सोचते हैं वो सोचना बिल्कुल फैलसी है बिल्कुल झूठ ये आदमी अपवाद थे ये नियम नहीं थे जहां तक सामान्य आदमी का संबंध है आदमी विकसित हुआ है उसका पतन नहीं हुआ है उसका कोई ह्रास नहीं हुआ है आदमी सामान्य आदमी विकसित हुआ है उसके जीवन में पीछे के आदमी से गति हुई है उसके विचार में गति हुई है उसकी चेतना में विकास हुआ है कई कारणों से ये बात कही जा सकती है मैं कोई कारण नहीं देखता हूं कि लोग पहले से बुरे हो गए लोग पहले से भले हो गए मैं तीन दिन जो बातें कह रहा हूं अगर यही बातें मैंने 2000 साल पहले कही होती आप मेरी हत्या कर देते आप ज्यादा बेहतर आदमी हैं 2000 साल पहले के आदमी से क्राइस्ट ने ऐसी कौन सी बात कह दी थी जिसकी वजह से लोगों ने क्राइस्ट को सूली पर लटका दिया जो क्राइस्ट ने कहा था तीन दिनों में मैंने उससे बहुत ज्यादा तीखी और आपको चोट पहुंचाने वाली बातें कही लेकिन आप में से किसी ने पत्थर भी नहीं मारा फांसी लगाने की तो बात दूसरी क्राइस्ट के पास जो लोग थे उनसे आप बेहतर आदमी हैं सुकरात को जिन लोगों ने जहर पिलाया था उनसे आप बेहतर आदमी जितना पीछे हम लौटते हैं आदमी विचारपूर्ण नहीं है आदमी अत्यंत अंधा है अत्यंत अविचारपूर्ण है विचार विकसित हुआ है विचार आगे गया है मनुष्य की चेतना ने नई नई बातें विचार की हैं नए स्पर्श किए नए अनुभव किए नई दिशाएं खोली थोड़ा सोचें हमारी सदी पहली सदी है जिसने युद्ध के विरोध में सामूहिक आवाज दी है आज तक युद्ध स्वीकृत था इसलिए किसी भी सभी ने यह नहीं कहा कि युद्ध पाप है ये पहला मौका है कि इन दो महायुद्धों के बाद सारी दुनिया में जो भी विचारशील है वो कह रहा है युद्ध पाप है आज युद्ध के विरोध में जितनी चेतना है उतनी दुनिया में कभी भी नहीं थी आज हिंसा के विरोध में जितनी चेतना है उतनी कभी भी नहीं थी आज जितना भाईचारा सारे जगत में मनुष्य मनुष्य के बीच पैदा हुआ है उतना कभी नहीं था आज जितना उदार है मनुष्य उतना कभी भी नहीं था आज जितने उसके हृदय के द्वार दूसरों के लिए भी खुले हैं उतने कभी भी नहीं खुले थे जितना हम पीछे लौटते हैं उतना नैरो माइंडेड उतना संकीर्ण आदमी उपलब्ध होता है लेकिन आप कहेंगे कि नहीं पहले का आदमी कम चीजों से तृप्त हो जाता था उसे बहुत चीजों की जरूरत नहीं होती थी वो अपरिग्रही था आज बहुत चीजों की जरूरत है ये बात भी एकदम गलत है चीजें नहीं थी ये बात दूसरी है लेकिन चीजों से तृप्ति कम चीजों में थी ये बात झूठ है चीजें नहीं थी ये मैं मानता हूं बुद्ध के समय में किसी आदमी को कार रखने का परिग्रह और वासना पैदा नहीं होती थी इसका कारण ये मत समझ लेना कि कार के प्रति उसका त्याग था कार नहीं थी जो चीजें मौजूद थी उनके लिए वो दौड़ में खड़ा हुआ था हमेशा उन चीजों के लिए कोई इंकार नहीं था उसके मन में जो चीज नहीं थी उसकी तो कामना वो नहीं कर सकता था आज के आदमी का भोग बढ़ गया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है हाँ उसके पास भोग के साधन बढ़ गए हैं ये जरूर ठीक है पिछले आदमी के पास भोग के साधन कम थे जो थे उन्हीं में वो विचार करता था उन्हीं में खोज करता था उन्हीं को पाने की कोशिश करता था आदमी वही है उसके पास साधन बढ़ गए हैं लेकिन इससे कोई आदमी पतन नहीं हो गया बल्कि जिस आदमी ने ये साधन बढ़ाए हैं वो उसकी उन्नत बुद्धिमत्ता के लक्षण उसके ज्यादा सोच विचार और खोज के परिणाम है प्रकृति के ऊपर उसके ज्यादा नियंत्रण की सूचना है प्रकृति के रहस्यों को जानने में उसकी ज्यादा गति के प्रतीक और हम सोचते हैं कि पहले के लोग ज्यादा ईमानदार थे ज्यादा सच्चाई पसंद थे कि किस हिसाब पर आप सोचते हैं किस कारण से आप ये सोचते हैं अगर पुरानी कथाएं उठा के पढ़े तो जितनी बेईमानी हो सकती है उनमें मौजूद है जितने धोखे धड़िया हो सकते हैं वो मौजूद है जितना पाखंड हो सकता है वो मौजूद है जितना असत्य हो सकता है वो मौजूद है जितनी चालाकियां हो सकती हैं वो सब मौजूद है कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ है हाँ एक बात में फर्क पड़ गया है पहले कुछ लोग चालाकियां करते थे बाकी लोग चूंकि उनकी बुद्धिमत्ता बहुत कम विकसित थी चालाकियों के शिकार होते थे अब चूंकि बड़े पैमाने पर अधिक लोगों की बुद्धिमत्ता विकसित हुई है इसलिए थोड़े लोगों को चालाकी करने का मौका नहीं है ये थोड़ा विचार नहीं है बुद्धिमत्ता का कम होना ईमानदारी नहीं है दुनिया में बुद्धिमत्ता विकसित हुई है इसलिए चालाकी में भी अगर आप आगे हैं तो दूसरे लोग भी आगे वो आपसे पीछे खड़े होने को राजी नहीं तो शायद आप सोचते हो कि सभी लोग सभी लोग वही करने लगे जो लोग थोड़े से बुद्धिमान लोग पीछे करते रहे वो आज हर आदमी करने में समर्थ हुआ है क्योंकि बुद्धिमत्ता बहुत बड़े पैमाने पर विकसित हुई है विवेक और विचार विकसित हुआ जैसे उदाहरण के लिए आपसे कहूं पुरुषों ने नियम बना रखा था कि विधवाएं विवाह नहीं करेंगी लेकिन पुरुषों ने अपने लिए नियम नहीं बनाया हुआ था कि विधुर विवाह नहीं करेंगे पुरुष चालाक रहा होगा बेईमान रहा होगा होशियार रहा होगा आज स्त्रियां भी शिक्षित हुई हैं उनको ये चाला की साफ समझ में आ गई है कि पुरुष अपने तो विवाह कर सके विधुर होने के बाद और स्त्री न कर सके ये कैसा हिसाब है तो स्त्री अगर आज विधवा होकर विवाह करना चाहती तो हम कहते हैं देखो कितना पतन हो गया विधवा विवाह कर रही ये सिर्फ स्त्रियों की बुद्धिमत्ता विकसित हुई है और आपकी चाला की अकेली नहीं चल सकती तो आज आपको लगता है ये स्त्री कैसी देखो पतित हो गई कभी स्त्रियों ने सोचा था कि विधवा और विवाह करेगी और आप कैसे विवाह करते रहे थे स्त्री भी पुरुष के समकक्ष खड़ी हो गई है विचार करने में तो आज कठिनाई हो रही पुरुष को तीन हजार वर्ष तक हिंदुस्तान में करोड़ों हरिजनों को हमने सताया सूत्रों को सताया जो बुद्धिमान थे उन्होंने उनको जमीन पर लिटा रखा उनकी छाती पर बैठे रहे उनके साथ जो भी अनाचार किया जा सकता था किया गया उन्हें जिस भांति हीन किया जा सकता था किया गया उनके भीतर की मनुष्यता की जिस भांति हत्या की जा सकती थी वो की गई न उन्हें ज्ञान न उन्हें विचार के विकास का कोई मौका दिया गया आज वो भी बुद्धिमान हो गए वो इनकार कर रहे हैं कि अभी आगे नहीं चलेगा तो हम कहते हैं जमाना कैसा बिगड़ गया वर्ण धर्म सब छूटा जा रहा है ये सूत्र देखो ये हमारे साथ खड़े होने की हिम्मत कर रहा है धक्का दे के हमारे साथ खड़ा होना चाहता है आपने तीन हजार वर्ष तक क्या किया था उसके साथ वो ईमानदारी थी वो नैतिकता थी वो धर्म था आज उसके मन में विद्रोह खड़ा हो गया आज उसकी बुद्धिमत्ता वो भी जाग गया उसके बच्चे भी सोचने लगे तो आपको लग रहा है कि सारा वर्ण धर्म नष्ट हो गया है भगवान ये कलयुग आ गया ये कलयुग नहीं आ गया है ये जितनी मूर्ताएं और जितने शोषण हम चलाते रहे थे उनकी मृत्यु का वक्त आ गया इसलिए सारी परेशानी खड़ी हो गई हर जगह परेशानी खड़ी हो गई एक ढांचा था हमारा वो ढांचा टूट रहा है तो हम परेशान है हम कहते हैं दुनिया बड़ी बुरी हुई जा रही दुनिया बुरी नहीं हो रही बल्कि दुनिया में बहुत सी बुराइयां चल रही थी उनको तोड़ने का ख्याल आदमी के सामने स्पष्ट हो गया अब वे बुराइयां नहीं चल सकेंगी इसलिए उन बुराइयों से जो लोग फायदा उठा रहे थे जिनका स्वार्थ उनसे तय हो रहा था वो सब परेशान हो गए और वो सारे जमाने को गाली दे रहे हैं सारे बच्चों को गाली दे रहे हैं नए युवकों को गाली दे रहे हैं नई पीढ़ी को गाली दे रहे हैं लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं हमने हजार सालों में जो जो किया है आदमी के साथ बड़ा बेहूदा था उसको तोड़ने का ख्याल आया क्योंकि सारे लोगों के पास विचार पहुंचे ख्याल पहुंचे जागृति आई चेतना आई मनुष्य की चेतना निरंतर विकसित हो रही है और ये उचित भी है परमात्मा के जगत में कि चेतना निरंतर विकसित हो विकास जीवन है पतन का क्या कारण है वहां कोई वजह नहीं है आपको पता है आज बिहार में आपका आदमी भूखा मर रहा है इंग्लैंड अमेरिका और रूस के बच्चे अपनी जेबों से पैसा काट के बिहार के आदमी को भोजन भेज रहे हैं ये आदमी का विकास है कि पतन ये कल्पना के बाहर था आज से हजार साल पहले कि एक कौम में कोई भूखा मरे और दूसरी कौम उसकी फिक्र करे दूसरी कौम कहती बहुत अच्छा हुआ मर जाओ बिल्कुल तुम तुम्हारी पूरी जमीन पी जाए हड़प जाए आज सारी जमीन पर आदमी आदमी के प्रति एक अभूतपूर्व संबंध पैदा हुआ है जो कभी नहीं था पुराने दिन तो ये थे एक एक हिंदू मुसलमान को छूता तो स्नान करता फिर तो इस मुसलमान के मरने से हिंदू क्या फिक्र करने वाला था मर जाए ये लेकिन आज बिहार में जो अनजान लोग मर रहे हैं क्या मतलब है किसी किसान को जो हॉलैंड में काम करता हो क्या प्रयोजन है किसी बच्चे को जो बेल्जियम में पढ़ता हो क्या मतलब है उसे कि बिहार में कोई मर रहा है मर जाए उदयपुर के आदमी को उतनी फिक्र नहीं है बिहार के आदमी की जितना अमेरिका का किसान सोच विचार में पड़ा हुआ है उसे कुछ भेजे आज अमेरिका में चार किसानों में से एक किसान जितना पैदा कर रहा है वो हिंदुस्तान आ रहा है और ये बात जानते हुए कि हिंदुस्तान के ना समझ लोग गाली देते रहेंगे कि ये भौतिकवादी हैं पापी हैं और हम आध्यात्मिक ये जानते हुए ये आ रहा है हम गाली दिए जा रहे हैं सारी दुनिया को और वो सारी दुनिया हमारे लिए हर तरह की चिंता किए जा रही है ये कभी पिछले दिनों में संभव हुआ था ये कभी संभव हो सकता था ये संभव हुआ है लेकिन हमें ये पीछे का रोग क्यों पकड़ता है कि पीछे सब अच्छा था इसके कुछ बुनियादी मनोवैज्ञानिक कारण है पहला कारण तो यह है पहला बुनियादी कारण तो यह है ये थोड़ा सोचने समझने जैसा जरूरी है हर आदमी का मन बचपन में आनंद को अनुभव करता है बचपन में न तो चिंता होती न फिक्र होती माँ बाप फिक्र करते हैं चिंता करते हैं बच्चा सिर्फ जीता है कोई दायित्व नहीं कोई बोध नहीं कोई भार नहीं फिर बच्चा बड़ा होता है जैसे जैसे जवान होने लगता है दायित्व बढ़ता है बोझ बढ़ता है उसे दिखाई पड़ने लगता है कि बचपन बहुत अच्छा था बड़ी मुसीबत शुरू हो गई इस भांति उसका चित्त पीछे की तरफ सोचना शुरू कर देता है कि पीछे अच्छा था अब सब गड़बड़ हो गया फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है जवान होता है प्रौढ़ होता है बूढ़ा होता है कठिनाई बढ़ती जाती है उसका चित्त सोचने लगता है पीछे सब अच्छा था अब सब गड़बड़ होता जा रहा है एक एक व्यक्ति को ये अनुभव होता है उसके चित्त में कि पीछे सब अच्छा था अब सब गड़बड़ होता जा रहा है ये जो बुद्धि का निर्माण हो जाता है पीछे सब अच्छा था ये ये मोड ऑफ थिंकिंग ये सोचने का ढंग फिर सारी चीजों में काम करता है और वो कहता है कि पीछे सब अच्छा था और अब सब गड़बड़ हो गया इसका संबंध व्यक्तिगत मन की सोचने की विधि से है हमारा व्यक्तिगत मन बचपन में आनंद अनुभव करता है बाद में दुख अनुभव करता है हर आदमी इसलिए उसके सोचने का ढंग ये हो जाता है पहले सब अच्छा था फिर इस बात को वो हर चीज पर लागू करता है समाज पर जीवन पर संस्कृति पर सभ्यता पर पीछे सब अच्छा था ये उसके चित्त में बैठी हुई बचपन की याद है जो काम करती है और इसके आधार पर वो जो नतीजे लेता है वो नतीजे एकदम भ्रांत और झूठे उनमें कोई अर्थ नहीं मनुष्य विकसित हो रहा है मनुष्य आगे जा रहा है मनुष्य की चेतना निरंतर ऊर्ध्वगामी है और यही उचित है परमात्मा के इस जगत में नीचे जाना कैसे संभव नीचे जाने की बात अधार्मिक है मनुष्य तो ऊपर जा रहा है रोज नए अनुभव उसे और ऊपर ले जा रहे हैं लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि नीचे जा रहा है उनके निहित स्वार्थ टूट रहे हैं जिन जिन के स्वार्थ थे उनको लग रहा है कि मनुष्य नीचे जा रहा है जो मंदिर में बैठ के पूजा करता था आज मंदिर में कम लोग जा रहे हैं कल की बजाय जो पादरी चर्च में भाषण करता था उसके भाषण सुनने लोग नहीं जा रहे जो किताबें कल तक भगवान की किताबें समझी जाती थी लोग समझने लगे वो भी आदमियों की किताबें दुख पैदा हो रहा है परेशानी पैदा हो रही है पुरोहित का वर्ग सारी दुनिया में परेशान है क्योंकि उसका धंधा एकदम विलीन हो रहा है लोग समझ रहे हैं भगवान मंदिर में नहीं है लोग समझ रहे हैं भगवान जीवन में लोग समझ रहे हैं गंडे ताबीज तंत्र मंत्र ना समझिया लोग जीवन के सूत्र खोज रहे हैं लोगों की आंखें खुल रही हैं कि तुम उनको अब समझाओ कि नरक में सड़ोगे तो वो विश्वास करने को राजी नहीं है तुम उनको कहो कि स्वर्ग में आनंद मिलेगा दान करो तो भी वो विश्वास करने को राजी नहीं विश्वास की शक्ति कम हुई है होगी जब विचार विकसित होता है तो विश्वास कम होता है विश्वास अंधापन जब आंखें खुलती हैं तो कोई आदमी विश्वास नहीं करता विचार करता है दुनिया में विचार जग रहा है विश्वास शिथिल हो रहा है इसलिए जो लोग विश्वास को धंधा बनाए हुए थे और विश्वास के आधार पर जी रहे थे वो सब परेशान हो गए थाईलैंड में चार करोड़ की आबादी चार करोड़ में बीस लाख भिक्षु साधु चार करोड़ की आबादी में बीस लाख साधु थाईलैंड के युवकों ने कह दिया कि अब साधु हो ठीक लेकिन खेती बाड़ी करो अनाज पैदा करो मुफ्त हम खाने नहीं देंगे तो थाईलैंड का साधु कहता है जमाना बिल्कुल बिगड़ गया ये क्या बात कर रहे हो ये कोई बात करने की है साधु ने कभी काम किया है साधु ने कभी खेती बाड़ी की है जूते सिए हैं कपड़े बुने हैं साधु ये नहीं करता तो थाईलैंड कहेगा कि फिर साधु मत रह जाओ लेकिन अब 20 लाख लोगों की पलटन को मुफ्त नहीं पोसा जा सकता भारी पड़ गई है चार करोड़ की आबादी में 20 लाख आदमी कितने भारी हो गए तो वो 20 लाख आदमी चिल्ला के कह रहे हैं कि जमाने का पतन हो गया और 20 लाख आदमी जब चिल्ला के कह रहे हो तो सबके दिमाग में ये बात पैदा हो जाती है कि पतन हो गया जरूर हो गया होगा लेकिन ये 20 लाख लोग अब जी नहीं सकेंगे हिंदुस्तान में भी वही हालत है सारी दुनिया में वही हालत है कैथोलिक पादरियों की संख्या बारह लाख बारह लाख आदमी बिना कुछ किए जी रहे बारह लाख पादरी है सारी दुनिया में वो मुफ्त जी रहे हैं उनके आप पैर भी छू रहे हैं आदर भी दे रहे हैं भगवान भी मान रहे हैं वो मुफ्त जी रहे कुछ क्रिएट नहीं किया कुछ पैदा नहीं कर रहे एक ही काम करते हैं वक्त आ जाए तो लड़वाने का काम करते हैं प्रोटेस्टेंट से लड़ो तो कैथोलिक पादरी लड़वाने का काम करता है मुसलमान से लड़ो तो लड़वाने का एक धंधा है पादरी के पास कि लड़वाने का वक्त आ जाए तो वो भाषण देता है कि लड़ो और समझाता है कि अगर धर्म के युद्ध में मर गए तो मोक्ष बिल्कुल निश्चित है और पागल होते हैं जो इस मोक्ष की आशा में मर भी जाते हैं अब ये बारह लाख पादरी परेशान है क्योंकि इंग्लैंड और यूरोप और अमेरिका में लड़के उनसे कह रहे हैं कि अभी आगे नहीं चलेगा ये आखिरी वक्त है ये आखिरी पीढ़ी जो तुमको चलने दे रही ये ये फौज फाटा हम नहीं पाल सकते इसकी कोई जरूरत भी नहीं है चर्च खाली होते जा रहे हैं इसलिए परेशानी क्योंकि चर्च जब नहीं आते चर्च में सुनने वाले तो दान भी नहीं आता है दान नहीं आता तो पादरी भी